इकतालीसवा अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जपेश्वर तीर्थ की महिमा जपेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उनके गणाधिपति होने का आख्यान सूत जी ने कहा तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है दुर्योत्तमो ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्ठी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं ब्राह्मणों प्राचीन काल में मरीच अत्रि वशिष्ठ क्रतु भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा कुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा भगवन यह बतलाएं कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपरदी ईशान देव का दर्शन करें ब्रह्मा जी बोले आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर हजार यज्ञ विशेष सत्य संपन्न करें मैं वह देश आप लोगों को बतलाता हूं जहां आप यज्ञ करेंगे ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें विलंब न करें श्रेष्ठ पुरुषों जहां इस चक्र की नेम शीर्ण होगी गिरकर टूटेगी वहीं वह स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे-पीछे चलने लगे शीघ्रता पूर्वक जा रहे उस चक्र की नेम जहां शीर्ण हुई गिरी वह स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्षों गंधर्वों से सेवित यह उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है प्राचीन काल में यहां पर तपस्या करके देवताओं गंधर्वों यक्षों नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया है मरीच अत्रि वशिष्ठ क्रतु भृगु तथा अंगिरा इन छह कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था दिजों यहां किया गया दान तप स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही सात जन्मों में किए पापों को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजात लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं जहां जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जापेश्वर नाम से प्रसिद्ध है यहां महान गणनंदी ने निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया इस नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए विषभध्वज महादेव की आराधना की तप करते हुए उन्होंने जब हजार वर्ष का समय व्यतीत कर दिया तब गणों से आवृत्त विश्वकर्मा सोम शर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरेण्य गिरजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्रश को देखते-देखते वे अंतर्धान हो गए तदंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा कुमार कार्तिकेय के समान उन अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में सिलाद को बार-बार तात तात इस प्रकार से कहा आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद जी ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उस नंदी के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त कर निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ किया उनके द्वारा एक करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा नंदी ने वर मांगते हुए कहा ईश्वर मैं पुनः ईश्वर का एक करोड़ जप करना चाहता हूं अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें ऐसा ही हो यह कहकर वे देव अंतर्ध्यान हो गए भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए एक करोड़ जप किया दो करोड़ जब पूरा होने पर पुनः भूत गणों से आवृत वृषभध्वज शंकर जी ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा तब नंदी ने कहा प्रभु शंकर मैं पुनः तीसरी बार एक करोड़ जप करना चाहता हूं ऐसा ही हो कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्ध्यान हो गए तीन करोड़ जब पूरा होने पर भूत गणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहां आकर कहा मैं वर प्रदान करूंगा इस पर नंदी ने कहा मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूँ ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है तुम जरा से वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होोगे तुम योगीश्वर योग नेता गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर सभी लोकों के अधिपति श्रीमान सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्तामल कवच प्राप्त करेगा तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर तथा नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया पिनाक धारण करने वाले शंकर जी ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या जो सुयसा नाम से विख्यात थी उसके साथ इनका विवाह कर दिया यह जपेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है इति श्री कुर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम उपर विभागे एक अध्याय 42वां अध्याय विविध शैव तीर्थों के महात्म का निरूपण तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्मा का उपसंहार सूत जी ने कहा जब पेश्वर के समीप में ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है वहां तीन रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महा भैरव नाम से कहा गया है वह महापातकों का नाश करने वाला है वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है वह सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है जहां देवों के आदि देव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की पूजा की थी वहां पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है वहां संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है